कहा गया एनू हमारी जानब से सलामती और बरकतों के साथ उतर जाओ तुम पर और उन ग्रोहों पर जो तुम्हारे साथ हैं और कुछ ग्रोह ऐसे हैं कि जल्द ही उनको हम साजो सामान देंगे फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा